अब अगली सिद्धि का वर्णन करते हैं भाई मृत्यु का ज्ञान कैसे आप जो है कौन सा दिन कौन सी तारीख पे कितने बजे कैसा मरोगे ये कैसे जानेंगे अपने शरीर का मृत्यु या दूसरे शरीरों की मृत्यु का जानकारी कैसी होगी उसमें दो तरीका एक तो आप तो प्रयास करो संयम करो धारणा ध्यान समाधि तीनों कर्मों में सोपक्रम या निरुपक्रमों में कर्मों में जब संयम करोगे तो स्व शरीर आदि मृत्यु विज्ञान और अगले का कर्म करोगे तो उससे के शरीर के मृत्यु विज्ञान होगा अथवा स्वयं सूत्रकार पतंजलि कहते इस लबड़े पढ़ो मत अपने आप अरिष्टों से ज्ञान हो जाए आपको जीतने लगेगा हाँ लेटे लेटे यमराज जी आ रहे हैं नहीं सिंह आ गया खाने को लग गया अनेक इस प्रकार से अरिष्ट दिखेंगे तो समझ लेना चाहे आदि भौतिक अरिष्ट हो चाहे आध्यात्मिक अरिष्ट हो चाहे आदि दैविक अरिष्ट हो किसी भी प्रकार के अरिष्ट दिखाई देता तो उसी से अपना मृत्यु की गणना व्यक्ति कर सकता है कभी अपनी छाया ना दिखाई दे समझ लेना टाइम आ गया तुम्हारा तीन महीने छात्र है कितना महीने में कैसे सवर्ण अगर नाक के कोना नहीं दिखाए समझना तीन ही दिन उससे ज्यादा नहीं चलने वाला गाड़ी ऐसा अलग वर्णन एक साल से लेकर के एक साल पहले व्यक्ति को मालूम हो सकता है यदि अपने जीवन में होती हुई घटनाओं के समय ध्यान देगा तो समझ में आ जाएगी एक साल पहले आपको रिपोर्ट मिल जाएगी आप एक साल बाद जाने वाले हैं ठीक उस घटना के एक साल बाद उसी तारीख को लेकिन अगले साल को केवल जाओगे ये शास्त्र वर्णन है अरिष्टे भ्योवा इसे सूत्रकार कहेंगे सोपक्रम निरुपक्रम कर्म तत्संयमात अपरांत ज्ञानम अरिष्टे भ्योवा सोपक्रम कर्म हो चाहे निरुपक्रम कर्म हो कर्म दो प्रकार के होते हैं सोपक्रम और निरुपक क्रम निरुपक क्रम ले लो चाहे सोपक्रम ले लो किसी भी कर्म में संयम कर दो आप अपने ही कर्म का फलम भोग रहे हैं है ना चाहे सुखाकार वृत्ति हो रहा है तो समझिए उसके लिए कोई पुण्य कर्म हमारा है आप सुख दुख का जो अनुभव कर रहे हो उसके आधार पर कारण ही कर्म का चिंतन कर पहले सुख दुख कारणीभूत संस्कार पर चिंतन हुआ है ना और अशुद्ध कारणीभूत कर्म पर चिंतन और उसी कर्म पर आप धारणा ध्यान समाधि लगा पाओगे तो आप अपरांत मन मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा आज एक और साधन बता रहे अरिष्टों से जान लो झंझट मत पड़ो क्यों तरह बर्बाद करोगे इसकी सिद्धि पाने को नहीं अरिष्टों से जानकारी मिल जाएगी बहुत और इसको वही बताया ना आदि देव आदि बहुत अपने छाया नहीं दिखा देना इत्यादि क्या ये तो समझाया और भी कहेंगे भाषिका विस्तार पर देखो आयुर्विपाकम कर्म आयुरूपी फल देने वाले जो कर्म है आयुरूपी फल को निश्चित करने वाले जात आयुर्भोगा कहा था ना मैंने आयुरूपी फल को निश्चित करने वाले जो कर्म है उसमें भी दो प्रकार के कर्म है एक है सोपक्रम दूसरा निरुपक्रम इसके बाद विस्तृत रूपी चर्चा कर्म और कर्म फल की चर्चा दूसरे पाद का तेरहवा सूत्र में दृष्टा जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत पाक वाले विपाक वाले अनियत विपाक वाले इत्यादि विचार वावा एक कर्म अनेक जन्म देगा क्या अनेक कर्म के एक जन्म देगा एक कर्म का प्रत्येक कर्म एक एक जन्म मिलेगा क्या इत्यादि अनेक विकल्प विचार उठाते हुए वहाँ निर्णय दे चुके हैं अब वहाँ जो निर्णित है उसमें भी हम केवल आयु और जाति आयु भोग में से जाति और भोग को छोड़ दो आयु को निश्चय करने वाले कर उतने मात्र को लेना आयु को निश्चय करने वाले जो कर्म है उसमें पुनः दो भाग विभक्त करके समझा रहे एक तो सोपक्रम दूसरा निरपक्रम तत्र यथा वस्तम इसको समझाएंगे कैसे उपक्रम और सोपक्रम निरपक्रम का बहुत सुंदर दृष्टान्त ले रहे हैं आपने कपड़ा धोया धोकर इसको निचोड़ा भी फिर उसको फैला करके लगा दिया तो कितना देर लगता है सूखने में जल्दी अल्पकाल में सूख जाएगा और उसको आपने धोया और उसको यूं ही गोल करके रख दिया धूप में है उसको न निचोड़ा है न फैलाया है यूं ही टांग दिया या यूं ही रख दिया तो कितने दिन लगेंगे सूखने में दीर्घ काल लगता है और तो सड़ भी जाएंगे दुर्गंध भी मारेगा धोया सब काम बेकार जाएगा कुछ भी हो सकता है उसी प्रकार यहाँ भी समझिए हमारे पास दो जो है प्रकार कर्म है एक तो फैल चुका है मैंने निश्चय हो गया है शरीर का और अन्य शरीरों के बारे पता नहीं अभी वो बंद बड़े पड़े हैं है कि नहीं अगले शरीर कितने आयु का होगा किसको पता है इस शरीर का ही पता है तो अगले को क्या पता चलेगा इसे सोपक्रम निरुपक्रम तत्र यथा आर्द्र वस्त्र विधानितम नगीय न शिष्येत तथा सोपक्रम यथा आर्द्र वस्त्र गीला जो वस्त्र है जिससे फैलाया हुआ है वो थोड़े ही काल में शीघ्र ही जो है सूख जाता है उसी प्रकार से सोपक्रम कर्म समझो बस अब समाप्ति होने वाला है जल्दी ही टाइम आ गया नजदीक टाइम आ गया मौत का इसका मरने का शीघ्र ही होने वाला है फैल चुका है मैंने मौत आके आगे आ चुका है अब तो जवानी में पता नहीं चलता कब आने वाला है लेकिन जैसे नीचे जाएंगे तो आपको भी गारंटी हो जहाँ बड़ा पागे तब तो जाना तो ही है लेकिन जवानी में तो रहता है और बीस साल जियेंगे दृढ़ विश्वास रहता है भले ही अगला दिन चला जाए वो लेकिन विश्वास तो रहेगा और बीस साल जियेंगे पचास साल जियेंगे पढ़ाएंगे वो एक होगा वो करेंगे वो करेंगे है ना क्या गारंटी है न करेंगे न होगा पहले चला जाएगा क्या पता इसे मान के आप चलते हो वो निरुपक्रम है और जब निश्चय हो जाते आपको भी अब तो जाना ही है वो सो इसे कहते हैं यथाच तदेव संपिंडितम चिरेण संशुष्य एवं निरुपक्रम और वही कपड़ा धोया हुआ गीला कपड़ा संपिंडित तो कर दोगे तो बहुत समय में जा करके वो सूखता ही था उसी प्रकार से आपके कर्म संतुलित है जो बहुत समय बाद में जाकर के कभी मृत्यु देने वाला है पता नहीं है तो वह निरुपक्रम वाला समझो अर्थात जो कर्म स्वपक्रम की उपक्रम कर गया फल आयु रूपी फल देने को आगे बढ़ चुका कर्म का आरंभ हो चुका है जो उसको कहते हैं स्वपक्रम और जो वो कर्म वो है जो मृत्यु में फल देने को आरंभ नहीं हुए उनको निरुपक्रम कहते दोनों प्रकार के कर्मों में से किसी भी कर्म में आप जो है संयम कर ले यथा चग्नि एक और दृष्टान भी दे रहे हैं यथा चग्नि शुष्क कक्षे मुक्तो वातेना समन्त तो युक्त क्षेप्य सकाल जैसा अग्नि है शो सुखा कक्षा है हाँ, सीलन वगैरह से भरा पड़ा नहीं है शुष्क कक्ष मुक्तो वातेना वायु खूब उसे वहाँ जो है ज्यादा चलता फिरता नहीं है ज्यादा चलेगा फिरेगा तो पूछ भी सकता है फैल भी सकता है लेकिन जो काम करो काम ठीक से होगा नहीं मुक्तो वातेना समंत तो युक्त चार से युक्त जो वह क्षेत्रीय कालेना थोड़े ही समय बड़ी तेजी से जा करके सबको जला देता है तथा स्वपक्रम यथावा सैव अग्नि तृणराशु क्रमशु अवयवेशु न्यस्त वही अग्नि तृण कर राशि में डाल दिया वो क्या हो गया वो धीरे धीरे धीरे जलाएगा ना भूसा को जलाने में कितना समय लगेगा और झोंपड़ी को फूंकने में ज्यादा समय नहीं लगता धक धक धक जल के खत्म और कार वार जलाने में क्या दूसरे में पेट्रोल भी रहता है ना जब बहुत जल्दी पकड़ लेता है रबड़ और प्लास्टिक ऐसी चीजें हैं झटपट जल जाए लेकिन भूसा को जलने बहुत टाइम लगता बहुत समय लगे ना धीरे धीरे धीरे धीरे एक एक अवय जलते जलते जलते उसको बहुत समय लगता है क्रमशो अवयवेश न्यस्त चिरेण देह बहुत समय में जाकर जलाता है तथा निरुपक्रम तत् एक भविकम आयुष्क्रम कर्म त्रिविधम स्वपक्रम निरुपक्रम निरुपक्रम इसलिए यह एक भविक की बात है अनेक भविक की बात नहीं कर रहे एक भविक की बात है वहाँ पहले विचार था नियत और अनियत नियत में भी दृष्ट जनवेदनी होता है और अनियत में अदृष्ट जनवेदनी होता है उससे भी तीन कहा था अनित अनियत वाले तो अदृष्ट जनवेदनी कर्म होते हैं वो तीन प्रकार से नष्ट हो सकते हैं एक तो यह है कृत किया आपने प्राचित कर्म से अफल दिए भी नष्ट हो गया दूसरा इस प्रारब्ध जो कर्म के साथ में वो भी आ गया और प्रबल नष्ट हो गया अथवा यहाँ पर आकर के प्राण कर्म के साथ भोगते भोगते आप कुछ ऐसा कर्म कर गए जो बैलेंस में था वो नष्ट हो गया अथवा चिरस्थिति तक बना रहने वाला तीन प्रकार का कहा था ये अंतिम वाले को लेना है वह जहाँ पर अनेक भविक की बात करते हैं तो और एक भविक की तुम्हें बात कहते हैं तो सीधा दुष्ट जन्मवेदनी को लेना पड़ेगा प्रत्येक में दोनों प्रकार का है स्वक्रम और निरपक्रम वाले तो कर्म दो प्रकार का स्व निरपक्रम तत्र संयमात अपरांत सप्रायण ज्ञानम तत्व ने तस्मिन कर्मणी संयमा संयम ने धारणा ध्यान समाज तीनों के करने पर अपरांत से मैंने प्रायण से मृत्यु ज्ञानम भवती मृत्यु ज्ञान मृत्यु का ज्ञान का मतलब क्या किस देश में किस काल में किस अवस्था में किनके हाथों का पानी पी करके मरोगे वो आ जाएगा नहीं अरिष्टेभ्यो वाह मृत्यु का ज्ञान कोई जरूरी नहीं इतना प्रयास करके करें अरिस्टोन से समय पर अपने आप पता लगे क्यों पहले से सिद्धि करो और सिद्धि से जान लो और पता चला आपको पचास साल बाद होने वाला है तब तक तो याद भी रखो नहीं अमुक तारीख को मरेंगे ये सब तो क्यों करना अपना भजन करते रहो और अरिष्ट जैसे सामने आएंगे पता लगी जाएगा ठीक है ना जैसे एक नोटिस देते ना पहले इधर बाल सफेद होता है फिर आंख में चश्मा लग जाती है एक एक दांत गिरने लग जाते हैं सब नोटिस देते रहते भगवान तो समझ लेना चाहिए हाँ तुम्हारा टाइम नजदीक आ गया इससे भी अच्छी बातें कर रहे देखो त्रिविधम अरिष्ठम तीन प्रकार का अरिष्ठ होता है आध्यात्मिकम आधि आधिभौतिकम आधिदेव की तथा आध्यात्मिकम यथा घोषम स्वदेह पीत करणो न शरणोदी रोजाना एक बार जरूर इसलिए कान बंद कर देना उंगुलियों से और देखना अंदर की आवाज सुनाई देता है धड़ धड़ धड़ सुनाई देते समझना हाँ अभी हम जिंदा रहेंगे <laughs> रोज एक बार तो करके देख लेना रोज सवेरे कर लो आज दिन भर चलेगा मान के चलेंगे फिर हाँ। घोषम स्वदेह स्वदेह में विद्यमान जो घोष है पीत कर लो न सुनोती नहीं सुनेगा मतलब मौत निश्चित उसका नजदीक आ गया है ज्योतिर्वा नेत्रे अवस्थब्ध है आ गया ना न पश्यती अंधकार अंधकार होते तो धीरे धीरे अंधा होने लग गया हाँ, चश्मा लगा फिर पूरा दिख नहीं लगता नहीं चश्मा डालो जो भी डालो दिखता नहीं समझो कि अब जल्दी है बस आजकल में गए ऐसे समझ लेना ये हो गया आध्यात्मिक तथा आज भौतिकम ये मैं पुरुषान पश्यती स्वप्न में जो है यमराज जी की जो है पुरुषों को दिखाई देता है उसको पितृन अतीतान अकस्मात पश्यति जो मरे हुए जो पितर लोग थे माता पिता वगैरह अचानक ये सप्र में दिखाई देने लगे रोता हुआ दिखाई दे हो बेटा मर गया और हाँ, तुम जाने वाले हो आज देवी कंच इसी प्रकार से आज देवी को भी दिखाई देता है स्वर्गम अकस्मात सिद्धांत व पश्यति अचानक स्वर्ग दिखाई दिया मैंने तुम्हारा ऊपर जाने का समय आ गया नहीं अब सिद्धों को देखता है विपरीतम व सर्व कहने का मतलब जो कुछ भी देखा सामने नहीं रहता है उल्टा पुल्टा ही देखोगे समझ लेना जल्दी ही समय आ गया है विपरीत जो जैसा होना चाहिए उसके विपरीत दिखाई देता है तो इसका मतलब है कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है ये तो भागवत पढ़ते हैं बार बार हो एकदम तो पाना दिया गया ये हो गया तो मेरे कुछ गड़बड़ होगा ऐसे अनुमान करते हैं ना दृष्ट वगैरह भी धृतराष्ट्र चला गया उन्हें क्या मालूम दृष्ट भाग गया है है कि नहीं वो अपशकुन देखा उनने अरे क्या बात है हाँ दिन दहाड़े जो है कवा सर पर आके बैठ रहा है जो ठीक नहीं और दिन में उल्लू उड़ने लग जाए तो बड़ा कमाल है, है? उड़ नहीं सकता ना दिन में कौवा ही उड़ता है और कौवा रात्र में कौ कौ कर दे बारह एक बजे तो कभी नहीं होता हो जाए तो ये सब अरिष्ट है वाही दिखाई दे रहा है तो इनमें से किसी को भी देखते तो लोग समझ लेते थे हाँ कुछ विशेष हमारे घर में काम बिगड़ गया है कुत्ता से बार बार अपने घर के सामने रोवे तो समझ लेना कि अब एक ने हमारे यहाँ मेंबर जाने वाला है इसलिए बोल रहा है रो, रो तुम्हारे घर में रोना पड़ेगा कोई जाएगा तो सब रोएंगे ना तभी तो रोएंगे तो ये संकेत देते हैं ये सब आकर के खबर देते हैं जैसे कहते बिल्ली काट देता है तो समझ लेना आगे एक्सीडेंट होने वाला है कुछ भी खतरा है इसे लोग क्या करते बिल्ली काट देते तो रुक जाते थोड़ा बैक कर देते गाड़ी को फिर आगे कर सकते नहीं तो खतरा मानते तो लोग व्यवहार में बहुतों अनुभव में आता है इन चीजों को ये सब वरिष्ठ के सूचक है इनसे भी मृत्यु आदि ज्ञान हो सकता है तो अनेक प्रक्रिया है तो ये दो प्रक्रिया सामान्य रूप बता दिया इसके मतलब वह बात है बल प्राप्ति कैसे किया जाए मैत्री शुभ बलानी मैत्रियादिशो बलान मैत्रियादि मैत्रियादिशु मैत्री करना मुझे तीन कहा था ना उपेक्षा भी कहा तो उपेक्षा को छोड़ देना उपेक्षा से कोई बल मिलने वाला नहीं है मैत्री करुणा और मुदित इन तीनों में संयम करने से जिसमें जैसा संयम करोगे उसके अनुसार अनुरूप फल आपको मिलेगा कहने का तात्पर्य दिख रहा है ना आपको सारे जो दृष्टान दिया जा सूत्रों के द्वारा आप जैसी उपाधि में संयम करोगे उसी उपाधि का अपना गुण के अनुरूप ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी आप मैत्री में आ गया आपने जो उसका उसका मैत्री बल बढ़ेगा आपका आपने करुणा में किया तो करुणा बल बढ़ेगी मुदित में किया तो मुदित बल बढ़ेगा हाथी में करो आगे कहेंगे अगला सूत्र में हाथी के समान बल मिलेगा जैसे धन पर क्या करते हैं हनुमान जी की पूजा करते हैं ना क्यों वो सोचते हनुमान जी साम हम भी हट्टे कट्टे तकड़े हों वैसे ही बल हमें मिलना चाहिए है कि नहीं अब वो सेठ नहीं करता हनुमान जी का वो तो लक्ष्मी का करेगा उसको लक्ष्मी चाहिए फिर जिसको जो चाहिए उसके अनुरूप वो पूजा करते हैं कि नहीं लोग में भी देखने को मिलता है उसका ध्यान करेंगे उसका चिंतन उसी का मनन उसका स्त्रोत्र पाठ ये तो है संयम धारणा ध्यान समाधि निरंतर उसी का धारणा करना मन में उन्हीं का ध्यान करना और उसी में जो समाहित हो जाना यही संयम है आप जिसकी करोगे वैसे आपको फल मिलेगा मैत्री करुणा मुदित तीसरो भावना तीन प्रकार की भावनाएं करते हैं आप तथा भूतेशु सुखितेशु मैत्री भावित्वा सुखी भूतों में जीवों में मैत्री की भावना करने से आपके अंदर मैत्री बल बढ़ते जाता है मैत्री बलम लभते दुखितेशु करुणाम भावित्वा करुणा बलम लभते दुखी लोगों को देख करके उनमें करुणा की भावना करने से आपके अंदर भी करुणा का बल और बढ़ते जाता है ये सब सदगुण है ना इन सदगुणों को जितना बढ़ाएंगे उतनी अंतगुण शुद्धि होगी करुणा के विपरीत क्या होता है ईर्षा द्वेष करना है कि नहीं मैत्री का विपरीत द्वेष हो गया करुणा के विपरीत ईर्ष्या हो हाँ तो करुणा करनी चाहिए वो नहीं करेगा और उनकी कठोर हो जाएगा घृणा करेगा ये सब भावना विपरीत है करुणा के विपरीत है और कोई शुक्रिया देख जगह जलेगा ईर्ष्या करेगा वो गलत है वह आपको और खराब कर रहा है अंतकरण को और अपवित्र कर देता अशुद्ध करता है इसलिए जो है ईर्ष्या बल को बढ़ाना नहीं है है कि नहीं बल को बढ़ाना नहीं हमें किसी से घृणा नहीं करना है भगवान ने अनंत शरीर धारण किए हुए अनेक प्रकार से धारण किए हुए हैं सभी भगवान के ही रूप है सभी में वही है सभी वही है तो फिर किसे कौन घृणा करे फिर भी ये करता है तो वो अपने आप को नाश कर ले रहा है इसे करुणा बल को बढ़ाने का प्रयास करनी चाहिए घृणा बल को घटाने का प्रयास करना चाहिए मुदित बल को बढ़ाने का प्रयास करो ईर्ष्या बल को घटाने का प्रयास करो परमात्मा के प्रति और सभी के प्रति निस्वार्थ राग को बढ़ाने का प्रयास करो द्वेष बल को घटाने का प्रयास करना चाहिए अनुराग बढ़े और वह निस्वार्थ हो जाए किसी में भी आप अनुराग करेंगे लेकिन निस्वार्थ रूप से करेंगे तो संत शुद्धि होगी क्योंकि उसे एक न एक दिन वैराग्य हो जाएगा लेकिन निस्वार्थ कर रहे हैं तो निर्गड़बड़ होगा वसुदेव ने पुत्र की भावना से भगवान की पूजा की सेवा की सारा काम किया लेकिन उससे उसको क्या प्राप्त हुआ भगवान उसे अलग हो गए वैराग्य हो गया नहीं तो बड़ा दुखी होता रोता अरे बेटा चला गया बेटा चला गया है अनुराग हो प्रेम हो लेकिन वो निस्वार्थ तब उससे आपको वैराग्य आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति में लाभ होता है इसलिए बातों को कह रहे हैं और पुण्यशीलेशु मुदिताम भाविता मुदिता बलम लभते पुण्यशील पुरुषों में यह धर्माचरण करने वालों में आप मुदित भावना को बढ़ाओगे तो उससे आपका मुदित बल बढ़ेगा सदा प्रसन्न होने की बल बढ़ेगा और कोई पुण्यवान आदमी है उसको पुण्य कर रहा है पूजा पाठ कर रहा है आप उसकी पूजा में विघ्न डालने का प्रयास करोगे कोई ध्यान में बैठा है उसी समय खटखट खटखट करेंगे कई होते हैं इसे स्वभाव ये बना रहते हैं लोगों के सामान्य स्वभाव है आप जब करेंगे वही बातें करने के लिए खड़ा हो जाएंगे अरे जो ध्यान कर रहे हैं जब तब कर रहा है सभी ग्रह डालो ये बहुत होंगे आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें वो टेप चला देगा क्या करोगे भगवान भी ऐसे देखते हैं आप सामने करो तो अपने वो चला जाएगा जैसे आपने देखा पास में था ओ ओ ओ कर चलाते थे क्या क्या चलाते थे वहीं करते थे वो चले गए नहीं जो दुकान वाले आस पास हम देखते थे जो खटखुट करेगा वो अपने भाग जाता है भजन में क्यों विग्रह करते हो वो अपने आप चले जाना पड़ता उसको यहाँ जितना डाला इन्वेस्ट किया बैठा बेचारा घाटे में गया ना शांति से बैठता भगवान सब कुछ देते और वो सोच रहे मैं जितना हल्ला मचाऊंगा दुनिया को मेरी दुकान में उतनी खबर मिलेगी और सब आएंगे दुनिया से मेरे पास आवाज सुन सुन करके खूब मेरा व्यापार होगा सुनता समझा हुआ ऐसे ही इन उल्टा हुआ तो इस क्षेत्र में संत महात्मा है तुम क्यों हल्ला करते और कई तो महात्मा लोग ही हल्ला कर देते हो तो और कुछ मुसीबत वाली सवेरे से माइक चालू कर देते हैं बे मतलब भजन उनको लगा देते हैं उन्हें ये भी पता नहीं सुबह का राग कौन सी है वो सब वो है ना जैसे डांसर हो क्या वो फेवरेट डांसर नहीं ऐसे में बना हुआ भजनों को बजा देते सवेरे सवेरे अरे वो तो शाम का टाइम का मामला है सुबह तो भैरव राग लगाओ भैरवी राग का भजन लगाओ वो तो शाम में घर पर घर पर नाचने वाली बात बनती है अरे कुछ पता नहीं मूढ़ा की मूढ़ महात्मा का वेश बैठे हुए हैं और वो जो है बे टाइम कोई भी राग का कोई भी चीज बजा दे सारा भजन खराब ध्यान खराब हो समझते हैं नहीं कुछ भी विवेक नहीं भजन क्या करे उन पर हमें करुणा की भावना करनी पड़ती है क्या मूड है चलो कोई बात नहीं एक ने बिना कल के नहीं तो भाग जाएगा ढोंगे खोगा तो मुदिताम भावित्वा मुदिता बलम लभते भावना तो समाधि यह सयम इसलिए भावना से आप समाधि कर समाहित हो जाते जो वह भी संयम कोटि नहीं है तो बलानी अवंध वीरियाणी जायंत इसलिए आपके अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो बल की प्राप्ति होगी वो अबंध वीर हो जाएगा ऐसा सामर्थ्य वाला होगा निश्चित रूप में फल देने वाला वंधी वीर का मतलब क्या निष्फल वीर हाँ, फल न देने वाला बल है वो और अविंधवीर का मतलब फल देने वाला वो बल बनेगा महापशीले से उपेक्षा और जो उपेक्षा किसके लिए कहा था महापशीलों में उपेक्षा करनी चाहिए हाँ मुहित करणाचेद में उपेक्षा जो लिया था पापशीलों में ले लेकिन उसकी भावना को बढ़ाना नहीं न तो भावना तथा तस्याम नाश समाधि इसलिए उस उपेक्षा और भी भावना को पाप शिलो में चिंतन करता हुआ वहां से आप जो है समाचित वाले मत हो अतो न बलम उपेक्षा था इसलिए उपेक्षा से कि भावना से किसी प्रकार का बल की हमें जरूरत साधना के लिए मोक्ष के लिए नहीं है अतः उस उपेक्षा रूपी भावना का समाधि नहीं करना तत्र संयम अभाव वहाँ संयम का भी नहीं होता इसी वजह से यथा ये उत्कृष्ट चीजों का वर्णन किया और इसमें शरीर शारीरिक बल वगैरह भी चाहिए उनके लिए क्या करना कहते बलेशु हस्ती बलादी बलेशु हस्ती बलादी बलवान हाथी घोड़ा इत्यादियों में आप संयम करोगे आपका शरीर में भी उसी के प्रकार का बल की प्राप्ति हो जाएगी हस्ती से संयमान हस्ती बल भवती वहीनतीय बल संयमान वहीनतीय बलो भवती वायु बल संयमान वायु बल इत्युमारी हाथी का बल में संयम करने से हाथी के बल के सदृश बल वाला व्यक्ति हो जाएगा वही तुमने तो गरुड़ भगवान गरुड़ भगवान में आप संयम करोगे ध्यान धारणा समाधि लगाओगे तो वहाँ पर आप गरुड़ के बल के सदृश बल वाले आप हो जाओगे वायु के जो प्रचंड वायु आया देखिए कितने लाखों को मार डाला ऐसे वायु का ध्यान करो वैसे वायु के चिंतन करो मनन करो धारणा करो ध्यान करो समाधि लगाओगे तो तादृश वायु के बल आपको प्राप्त हो जाएगा तादृश बल के बल के सदृश बल वाले आप हो जाएंगे ठीक अच्छा अब इससे आगे व्यवहित और प्रकृष्ट का ज्ञान करने के साधना बता रहे संयम प्रवृत्ति आलोक न्यासा सूक्ष्म विवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम प्रवृत्ति आलोक में न्यास करने से मैंने संयम करने से न्यस्त कर देना सकल इंद्रियों का पूर्वक मन को न्यस्त करने का न्यास में संयम करना उससे क्या होगा सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान व्यवहित तत्वों का ज्ञान और विप्रकृष्ट तत्वों का भी ज्ञान हो जाता है प्रवृत्ति आरोप क्या है पहले बोल चुके हैं ज्योतिषमती प्रवृत्ति न मनसा निबंधिनी पहले कहा चुका है ना उस सूत्र को समझना एक छत्तीसवा ज्योतिषति प्रवृत्ति ही उक्ता मनस परिनिबंधन इत्यादि से कहा गया है तस्याच आलोक उससे जन्य जो आलोक है आलोक हमने ज्योतिरालंबनम निर्मल बुद्धि सत्तम निर्मल बुद्धि सत्य को लेना ये आलोक शब्द से निर्मल बुद्धि सत्तम में वह आलोक तम योगी उसे प्राप्त करके योगी जो है सूक्ष्म व व्यवहित व प्रकृष्टे व अर्थे विन्यस्य सूक्ष्म वस्तु में हो जैसे प्रमाणवादी व्यवहित वस्तु जैसे निधि आदि कहाँ सोना काट रखे हैं कहाँ क्या गड़ा हुआ है ऐसा मालूम हो जाएगा उसको चंद्रादो वह भी प्रकृष्ट है सूर्य चंद्र आदि जो है प्रकृष्ट तत्वों का भी अर्थ है उन विषयों में विन्यस्य तादृश बुद्धि को जब संकल्प लगा देता है तो तम अर्थम अधिगछती उस विषय का ज्ञान उसको संपूर्ण रूप में होने लगेगा निश्चय प्रक्षिप्य श्रम करता और इतने और आगे बहुत लंबा चौड़ा बात बताएंगे अगला सूत्र में तो है भाषी बहुत लंबा चौड़ा है भुवन ज्ञान सूर्य संयमात और सूर्य में संयम करने से इस समस्त भुवन का ही ज्ञान हो जाएगा ब्रह्मांड का ज्ञान हो कितने लोग गए कैसे कैसे लोग गए किस किस लोग में कैसे कैसे जीव जीते हैं क्या करते क्या नहीं करते क्या खाते पीते हैं है? सारे चीज का ज्ञान भुवन कोश का ज्ञान भुवन ज्ञानम सूर्य मने सूर्य द्वारे ये नहीं करना हम खोल के सूर्य को देखने अंधा हो जाओगे वांग फूट जाएगा सूर्य संयमात्मा ने सूर्य द्वारे सूर्य द्वारे का मतलब नयम नाट्यम संयमा सुषमना नाड़ी में संयम करने से आप सारा भुवन कोष का ज्ञान हो जाएगा तत्प्रस्तार सप्तलोका तत् विस्तार भुवन से विस्तार है भुवन का ही विस्तार ये सातों लोक है उन सातों लोगों का ज्ञान केवल इन सात ऊपर के ही नहीं तत्र अविच्छे है प्रवृत्ति मेरु पृष्ठ में यावत इति एष कहा तत्र अविचे है प्रवृत्ति नरक विशेष का नाम है अविची नरक विशेष का नाम है अविची से लेकर के मेरु पृष्ठ में और मेरु का पिछले भाग तक जितना भी लोक है वो सबका नाम एक नाम से कहते हैं भूआ भूलोका भूर भूर्लोका फिर मेरु का पृष्ठ नीचे सारे वर्ष जितने भी हम लोग देश देख रहे हैं ये सब किस भाग वर्णन करेंगे मेरु का पृष्ठ भाग में मेरु का दक्षिण की ओर ही है मेरू का उत्तर में कुछ नहीं मेरू का पूर्व में पश्चिम में कुछ नहीं मेरू का दक्षिण में समस्त विश्व है और मेरू से आगे क्या है वो अंतरिक्षीय होगा इसमें मेरु पृष्ठाद आरभ्य आध्वा मेरु पृष्ठ से आरंभ करके ध्रुव नक्षत्र तक चले जाओ मेरु पृष्ठोपलक्षित क्या है भूलोक से आरंभ करके समझ इसीलिए भूलोक की अवधि पूरा है उससे आरंभ करके ध्रुवलोक पर्यंत जितना भी लोक है उसका नाम क्या है ग्रह नक्षत्र तारा विचित्र अंतरिक्ष लोक भूवर लोक ग्रह नक्षत्र तारा आदि से युक्त जो बीच का लोक उसका नाम अंतरिक्ष लोक है अतो भूवर लोक है और कहते हैं कि वह तथा पर स्वर लोक पंचविद उसके आद में स्व और स्व में पांच भाग तो पांच और दो सात हो जाएगा इस तरह से वो कौन से कौन से है पांच अरे माहिंद्र तृतीय लोक यहाँ की अपेक्षा से तीसरा भू भुआ माहेंद्र स्व में पांच है ना स्व को छोड़ो अभी वो माहेंद्र हो गया इसलिए तीसरा इसे तीसरा शब्द कर रहे माहेंद्र तृतीय लोक भू भूर अपेक्षया तृतीय चतुर्थ प्राजापत्यो चौथा प्राजापत्य पांचवा महर लोक त्रिविदो बाह्य तद यथा जनलोक तपलोक सत्यलोक और उससे आगे त्रिविधो उससे भी बाह्य स्वर के अंतर्गत तीन ले लिया स्वर के अंतर्गत ही तीन हो गया महेंद्र प्राजापत्य और महरलोक उससे ऊपर अन्य तीने बोल दिया कौन तीन है वो कहते हैं कि भाई जनलोक है तपोलोक है और सत्यलोक है ये कहा से आधार पर बोल रहे हैं उसका विशेषण कर दो तो। तब दो हो गए ना ये और वो तीन पांच हो जाए वो सब स्वाहा के अंतर्गत लेना है हाँ प्राजापति जो है वही महरलोक है जो प्राजापत्य है उसी का दूसरा नाम महरलोक है और ये तो दो इसलिए स्वाहा के अंदर ये दो बता दिया दो के अलावा ये दो लगता है अंत है स्वाह के अंत है इसलिए कहे त्रिविधो बाह्य कह दिया स्वाह के अंत ये तो दो हो गया स्व के बाह्य वो तीन है कुल मिलाकर के व्यवहार में क्या करते भू भुआ स्व का देते वो तीन कौन है कहते हैं तद यथा जनलोक तपोलोक सत्यलोक अच्छा इस विषय में श्लोक भी दे रहे इति सर्ग्र श्लोक ब्राह्मण त्रिभूमि को लोक राजापत्यस्तो महान माहेन्द्रश्च स्वरिति उक्तो दिवी तारा भुवि प्रजा ये संग्रह श्लोक है ब्राह्म त्रिभूमि को लोक जो ब्राह्म लोक है वह तीन भूमि भूत भू स्व तीन भाव विभक्त होकर के अनुभव में आता है राजापत्या तो महान महेंद्र यहाँ देखो यहाँ लगता है महार अलग ही ले रहे हैं राजापत्या तत्व तो महान कर और महेंद्र चक्र के अलग लेना है श्लोक में उसमें संज्ञाओं में थोड़ा अंतर पड़ रहा है महेंद्र स्वरित ये हो गया स्व का तीन को ले रहे इसलिए दिवी तारा ये अंतरिक्ष में तारादिगण सारा चीज हो गया ग्रह आदि सब कुछ अंतरिक्ष लोग है लोग है भूअर लोग एक ही चीजें दिवी कहने पर और भूवी प्रजा बस भूलोक में मनुष्य आदि इस प्रकार तीन भूत हुआ स्वाहा स्वाहा में इन्होंने तीन ही नाम ले रहे राजा पत्या महा महेंद्र श्लोक में तीन का संग्रह किया इन वास्तव में वो पांच है जन्म सत्य वगैरह लोग भी ना उनको भी लेकर के पांच हो जाता है श्लोकों में इस प्रकार कई जगह अनेक प्रकार की संज्ञाओं में अंतर दिखाई देता है लेकिन तात्पर्य उसका वो संख्या में तो अंतर नहीं पड़ेगा संज्ञा में अंतर पड़ेगा संख्या में अंतर नहीं पड़ता ये समझना अच्छा तत्र अविच्छेद उपरी उपरी निविष्टा क्षण महानर्क भूमयो अविची नामक सबसे नीचे वाला नरक उसके ऊपर छह और नरक है सात नरक के विभिन्न स्तर हैं नरक लोक का अविचे ऊपरी ऊपरी निविष्टा क्षण महानरक भूमयो घन सलिल अनल अनिल आकाश तव प्रतिष्ठा इनमें क्या प्रतिष्ठा है कहते सबसे में घन है वो पार्थिव शिलादि रूपा है पत्थर आदि दूसरे में सलिल है जल है तीसरे में अनल अग्नि चौथा अनिल वायु पांचवा आकाश छठा तमह मन अंधकार ये छह तत्व प्रधान है इन छह नरकों में उनका नाम महाकाल अम्बरीश रौरव महारौरव काल सूत्र अंधताम मिश्रा ये नरकों के नाम है महाकाल नामक नरक में घन प्रदान पत्थर ही पत्थर रहेगा पत्थर पर उसको लुढ़काया जाएगा पत्थर से उसको पिटा जाएगा जो जीवा जाएगा पत्थर ही प्रदान है और आता है सलील सो डुबा करके बेचारा तैरना नहीं आएगा चलो वहां भेजते होंगे उसको डुबा डुबा करके मारेंगे बेचारे परेशान करेंगे है तो महानर्क जो होता है अम्बरीश नामक नर्क में जल प्रदान है और रौरव नामक नर्क में अग्नि प्रदान अग्नि स्तंभाली हो तो उसको आलिंगन करने कहेंगे यहाँ आलिंगन किया ना उसने दूसरे दूसरे की इसलिए वहां कहेंगे उसको आलिंगन करो अग्नि स्तंभों को आलिंगन कराएंगे ऐसे जो वर्णन आया है रौरव का और काल सूत्र में जो है वायु वायु प्रदान है और अंधता मिश्र में काल सूत्र बाहर और बीच में रह गया गौरव क्या महारौरव महारौरव में वायु है और काल सूत्र में आकाश और अंधता मिश्र में जो अंत में आता है अंधकार प्रधान क्षेत्र है ऐसे छह नरकों से ऊपर ऊपर युक्त अविची नामक सबसे नीचे वाला कुल सात नरकों के स्तर होते हैं यत्र सकर्मोपाज दुख वेदना प्राणिना कष्टम आयु दीर्घम आक्षिप्य जायते जहाँ पर स्वकर्म से उपार्जित कर्मों का फल रूपेण दुख को ही भोगते हैं और वो थोड़े देर के लिए नहीं भोगते हैं कष्टम और आयुष दीर्घ लंबी आयु होती है वहाँ पर बहुत समय थोड़ा सा पाप जो करा हुआ है उसको बहुत लंबे समय तक वहाँ भोगना पड़ता है आक्षिप्य जायते उन लोगों में वो लोग पैदा होते हैं तो, तो उसके ऊपर ये सब तलातल वगैरह जो होते हैं पाताल पर्यंत वाले ये सात उसके ऊपर तो महातल रसातल अतल सुतल वितल तलातल पातालाख्यानी सप्त पातालानी उससे आगे जो है महातल रसातल अतल सुतल वितल तलातल पाताल नामक सात पाताल के परत है समझो ये सब भूमि के विवर समान ऐसा वर्णन किया है नृत्य शास्त्रों ने इसी धरती के भीतर में विवरों के समान होता है और विवरों में खलबली होता है ना तभी तो भूकंप वगैरह हो जाता है वहाँ के लोग बम विस्फोट कर देते होंगे <laughs> कुछ करते होंगे बेचारे अरे सारा धरती हिलने लग जाता परेशान दुनिया यहाँ के लोग भूमि ही यम अष्टमी उसके ऊपर एक पृथ्वी है इसलिए ये आठ भूमिरियम अष्टमी सप्त द्वीपा वसुमती सात द्वीपों विभक्त हुई और विभिन्न प्रकार के हाँ, धन दौलत संपन्न वसुमती वसुमती धन दौलत अनेक प्रकार के धनों से संपन्न है यश्या सुमेरुर मध्य पर्वत राज कांचन यश्या मध्य जिसके बीचों बीच में सुमेरु नामक पर्वत पर्वतों का राजा कांचन में पर्वत विराजमान है तस् राजत वैदूर्य स्फटिक हेम मणिमयानी श्रृंगानी उसके रज, रजत के सदृश वैदूर्य मणि के सदृश स्फटिक मणि के सदृश और हेम स्वर्ण मणि के सदृश चार उसकी चोटियां होते हैं ये लगता है हिमालय को बोलते हैं हिमालय का है धरती का बीचे पीछे बैलेंस कर रहा है ना धरती को दबा के रखता है हिमालय जिसको महीधर बोलते हैं पर्वतों में पर्वतों का एक नाम महिर मही को धारण करने वाले ये न टेन रहे तो लड़क जाएगी जैसे नौका वगैरह क्या है उसको भी बीच उतरा ऊंचा ऊंचा करके ले जाते उसको दबा कर रखा था वजन रखते हैं ना नहीं तो लुढ़क जाएगा हर चीज में आप एक नींबू का बाद डाल दो पानी तैरेगा वो है ना तो क्यों तैरा वो आधा यू नीचे गोले अभी ऊपर बोले बीच बीच ऊंचाई मिलती की नहीं मिलती बैलेंस हो जाता है तो होता है और नहीं तो लुढ़क जाएगा पिघलेगा नहीं ये लकड़ी वगैरह देखिए अब लुढ़क लुढ़कते जाते हैं ऐसे पृथ्वी रोज लुढ़कते रह जाए सब गड़बड़ हो जाएंगे इसको धारण करने पीछे बैठा हुआ हिमालय जैसे महान पर्वत एकमात्र विशाल पर्वत यदि है तो हिमालय विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत उसमें जो हिममय जो चोटियां हैं वो चार दिशा से चार रंग वाले हो जाते हैं उगता सूर्य से सलमान सा हो जाता है दोपहर के समय सब सफेद रजतमय दिखता है अस्ताचल प्राप्त तो स्वर्णमय हो जाता है अलग अलग काल में वह स्वर्ण अलग अलग रंग वाले होते हैं आप कभी कैलाश मानसरोवर में से कैलाश के जो पर्वत के चित्र सरकार निकालते हैं बेचते हैं सैकड़ों चित्र छपा हुआ मिलता है कला स्रोत हर वर्ष टाइम भी लिया जाता है कौन से मौसम में किस मौसम में लिया गया था ये फोटो कौन सी तारीख पे किस समय पर लिया गया वो लिखा रहता है तब तो आपको पता लगेगा कितने रंग बिरंग का हो जाते हैं पर्वत अनेकों रंग वाले होते हैं नीला काला पीला विलक्षण और एक से एक सुंदर लगता है प्रकृति का आनंद लेना है उन चित्रों को देख के समझो तब ये समझ में आती है राजत वैदूर्य स्फटिक हिमयानी जो है इनके चोटियां होते हैं जैसे आदमी का भी चोटी होते है ना तो सफेद चोटी हो जाता है काले चोटी होते हैं पीले चोटी लाल लाल चोटी हो जाता है ऐसे ये भी चोटियां पर्वत की चोटियां हैं ये भी और सूर्य के प्रकाश के कारण से और काल का भेद के कारण से बादलों के कारण से अनेकों निमित्तों के कारण से हिममय जो पर्वत की चोटियां हैं वो कई रजतमय दिखते हैं कई वैदूरी में दिखते हैं कई स्फटिक में कई हिममय है ना ये नहीं कि वास्तव में वहां पर सोने का ही बना हुआ चोटी है कोई वहां तो ऐसे होते तो छोड़ दे क्या अमेरिका वाले तुरंत उस देश को पकड़ ले कट ये मानवाधिकार का हनन हो रहा है ये हो रहा वो हो रहा अन्याय हो रहा है उग्रवाद हो रहा है हम आते हैं तो उसको लेट के ले जाए बार फिर तो मुश्किल हो जाता है तो इसीलिए ये सब रंग का वर्णन है वास्तव में न सोना है न तो स्फटिक है न चांदी है, हाँ, न वैडूरी मनी है श्रृंगाणी भवंती ये कर दिया श्रृंगाणी भवंती क्रम ये भी क्रम समझना पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर भाग से वर्तनते विशेष पूर्व में रजतमय है ठीक दक्षिण में वैडूर्यमय है पश्चिम में स्फटिकमय है और जो है उत्तर में हिममय श्रृंग समझो ये अन्य शास्त्रों के आधार पर हमने टिप्पण बना दिया है जो चांदी प्रसाद विस्तृत विचार है देवल स्मृति भी विस्तृत विचार है अनेकों ग्रंथों के आधार पर जो है इधर उधर से सब संग्रह है तत्र वैदूर्य प्रभा अनुरागा नीलोत्पल पत्र श्याम नवसो दक्षिण भागा इसलिए उस पर्वत पर सूर्य का प्रतिम पड़ करके उस प्रकाश पड़ा और उससे प्रतिफलन हुआ प्रतिफलन जो जो होता है उस प्रतिफलन का रंग भी उसी प्रकार का होगा वो आकाश उस दिशा का वैसे वैसे वैसे दिखाई उसका कथन करते हैं वैदूर्य प्रभा का अनुराग से वैदूर्य मणि के साथ सूर्य के प्रकाश पड़ा उस प्रकाश अब रंग से अनुरक्त होकर के जब प्रतिफलित हुआ तो कैसे हुआ नीलोत्पल पत्र के शाम के समान दक्षिण भाग के आकाश का रंग हो जाता है नील उत्पल के पत्ते उसके श्याम के समान श्याम रंग वाला आकाश दक्षिण भाग का आकाश हो गया इसी प्रकार श्वेत पूर्व स्वच्छ पश्चिम कुरंड काब उत्तर रजत के कारण से पूर्व दिशा का जो आकाश है सफेद सा दिखता है स्वच्छ सा हो सा होता है और स्फटिक के कारण से पश्चिम दिशा के आकाश अत्यंत शुभ्र और स्वच्छ दिखता है और उत्तर दिशा में सूर्य के जब स्वर्ण के कारण से स्वर्ण वर्ण का पुष्प विशेष का नाम है कुरंड उसके सदृश आभा के सदृश आभा वाला आकाश कुरंड आभ इव आभो यश कुरंड से आभा कुरंड क्या है एक स्वर्ण रंग का पुष्प विशेष है पीले पीले रंग का पुष्प यहाँ बहुत होता है बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं अब कोई पुष्प ना हो तो वो होते रहता है और सारे मंदिरों में लोग पुष्प खूब चढ़ाते हैं कैलाश में भी है सब जगह मिलता है नहीं तो सड़कों के किनारे वो जो घरों के लटा जितना डालते तो बहुत होता है पौधा बाहर तक आता लोग उसको खुद खुद की छीन देते हैं पीले पीले रंग का होता है और वो जो फल उसको कुरंट का उसके पीले रंग के सदृश पीले रंग वाला आकाश हो जाता है कहा उत्तर दिशा में अब आइए उन दिशाओं का आकाश का वर्णन हुआ आकाश के रंग का वर्णन हो गया क्योंकि इन चूटियों के ऊपर पड़ा हुआ सूर्य के प्रतिफलन के कारण से तादृश आकार के समान आकाश भाषित होने लगता है यदि भी आकाश कोई रूप तो होता नहीं है ये तो प्रकाश का प्रतिफलन हुआ है जो उस वजह से तत्व तो आकार वाला दिखाई देता है तब कहते ठीक है इससे आगे दक्षिण भाग में समस्त देश होते हैं कहा था ना पहले भी कौन सा कौन सा देश कैसे कैसे है ऐसा वर्णन आएगा